लिए प्रद्युम के लिए करने के तो उसमें हिंदू वहां बलदाऊ आदि सब लोग थे वहां किसी ने कहा अरे बलदाऊ जी के साथ अक्षों से खेले यहां तो बलदाऊ जी को बुलाया गया और उनसे खेल अक्षों के पाठों के साथ खेल रहे हैं बलदाऊ जी ने सहज समारोह का राम लगाया तो रुकने से जीत गया खबर में देश का राजा को हंसने लगा अरे ये ग्वालियर जाने का राजा खेल है अरे रुक्मी लक्षण पान जब रुक्मी ने लाख मोहर का बाद लगा तो बलदाव जीत गए रुक्मी बोला नहीं मैंने जीता है ये झूठ बोल कर तब तो बंदाव जी ने क्रोध में आकर के रामो दस कोटि पन्ना लगे दस करोड़ मौलों का राम एक साथ लगा दिया बंदा अगर तू जीत गया ये दस करोड़ मौलों का राम लगाया तो बंदा जीत गया तू गए ताकत से जीत खेलने लगा ये मैंने जीता सवा करोड़ को मैंने जीता है और आकाशवाणी हुई अरे नए गाने धर्म तो वचने निर्वाण है पढ़ो बेटा बंगाल में जीता है उसमें झूठ बोलता है और दुष्ट राजाओं में मतलब लग करके आकाश बांध कर निवारण कर न्याय करने लगा बंगाल जी का प्रभाव करने लगा अरे वन को चला तुम जंगल में घूमने वाले तुम जानते हो तो अक्षर से खेलो अक्षर से और बाणों से तो राजा लोग खेलते हैं जब ऐसा तिरस्कार करने लगा तब बंगाल जी ने जब क्रोध में भरते हुए तो वहां बंदा लोगों का रखा था तो लेकर के मारा उसको बस फिर क्या है मर गया तुझे में वो देश का जो राजा था वो भागा तो बलदाऊ ने उसको पकड़ करके सारे दांत फाड़ दिए और इधर उधर से सारे लोग भागे श्याले होते सके और रुक्मिणी का भाई मार दिया बलदाऊ ने इसलिए रंग भया साधु असाधु का कर पर भगवान चुप रहे अगर हमें कहते हैं कि दाऊ दादा तुमने बहुत बढ़िया किया तो तो नहीं नाराज हो जाएगी हाँ? और समाज में तुमने ऐसा क्यों किया इसको क्यों मार डाला तो दाऊ दादा नाराज नहीं बोले मौन रहे भगवान ऐसे समय तक गृहस्थी को मौन रहना चाहिए और आगे सुखदेव जी कहते हैं राजन भगवान शंकर का एक भक्त था बासुर बलि के सौ पुत्र थे ना उनमें एक बाणासुर भी उनका बड़ा पुत्र था बलि का पुत्र था ये शिवजी का बड़ा भक्त था शोभितपुर में रहता था भगवान की कृपा से देवता भी इसके दास बने हुए थे भगवान शंकर की कृपा से इसको हजार बाबा थी तांडव शिवम को क्या भगवान शंकर ने इसको भर दिया तो बोले भगवान बोले शंकर के तो तू तो वर मांग क्या चाहता क्या आप मेरे नगर की रक्षा किया कर मेरे नगर पर कोई चढ़ाई करे तो आपको लड़ना पड़े भगवान की इच्छा से युद्ध में आए हुए बड़ा बलवान उसकी यौन खुजली बस्ती है भगवान शंकर के चरणों को स्पर्श करके बोला ये महाराज मैं आपको सर्वेश्वर समझता हूँ आपको प्रणाम करता हूँ आपने हजार भुजाएं जो दी हैं ये तो मेरे लिए भाग हो क्या त्रिलोकी में मेरे सामने युद्ध करने के लिए कोई खड़ा नहीं होगा इनमें खुजली मस्ती होती है ये परकान चूर्ण वो तारका को मैं क्यों कर दू दिग्गजान आरक्षण मेरे सामने दिग्गज ही भाग एवं तब बचा श्रोता भगवान शंकर बोले ऐसे इसको हमने बन दिया बड़ा अभिमान हो गया ये मुंह मिला जागना ये तेरा ध्वजा टूट के गिर जाए तो समझ लेना तेरे अनुमान को नष्ट करने वाला है मेरा तो ये सुन करके वहां से बड़ा प्रसन्न हुआ अच्छा ऐसा कोई दिन आएगा कोई हमसे युद्ध करने वाला मिले कोई तो उसकी प्रतीक्षा करने लगा उसके उषा नाम की एक कन्या है उसने स्वप्न में अनिरुद्ध को देखा जो प्रद्युम्न के पुत्र थे भगवान श्री कृष्ण के पौत्र तो मित्र के पुत्र अनिरुद्ध को स्वप्न में देखा और जब स्वर्ण टूट गया तो उसी अनुद्ध का ही स्मरण करे राजदेव उसी चिंता में उसकी एक सखी थी उसका नाम था चित्रलेखा चित्रलेखा ने पूछा कि बहन तू तो हर समय चिंतित क्यों रहती है दुखी क्यों रहती है तुझे तो क्या चिंता है किसको घूम रही है तेरा क्या मनोरथ है अभी तक तेरा विवाह नहीं हुआ है तो उषा देवी के एक सखी मैंने स्वप्न में एक पुरुष को देखा है सांगला सांगला उसका वर्ण है कमर के समान दोस्त हैं पीले वस्त्र पहने हुआ था तो नर नर श्रेष्ठ को मैंने देखा है मैं उसी के लिए दुखी हो रही हूं कम मृदय मैं उसी को खोज रही चित्रलेखा बोली कि यज्ञ संसार में है त्रिलोक में तो, तो मैं उसको ला सकती हूँ तब दुखम हरानी तब उसमें कह रहे हैं देवताओं को चित्र बनाना सामने कोई व्यक्ति हो उसको चित्र बनाना पर तो कोई कठिन नहीं देख पाता है पास बैठे बैठे सारे देवताओं के चित्र बना बना के उसमें ले जो कहें स्वप्न में देखा है देवताओं में से तो कोई नहीं है जो दूसरे को सब सब चित्र दिखाए उसने भी नहीं नहीं फिर गंधर्वों के चित्र बना करके दिए देख फिर सिद्धों के फिर चारणों के फिर कन्नगों के फिर दैत्यों के फिर विद्याधरों के फिर यक्षों के फिर मनुष्यों का नंबर आया मनुष्यों के चित्र बना बना करके उसके सामने रख रही है यथावत पते विलेखो जो वस्त्र पर लिखती जाती थी ये देख ये देख ये और मनुष्यों ने भी यादवों के फिर नंबर आए तो यादवों के चित्र बनाए फिर श्री कृष्ण और बलदाव जी के चित्र बनाए गई उसके बाद प्रद्युम्न का चित्र बनाया कर अमृत का बना के दिया उसको देख करके बोलिए सो सौ और यही तब तो मैं देखने अरे ये तो श्री कृष्ण का पवित्र है नासी है तो बोला फिर बोले हम ही जाते हैं मैं ओ चित्तले ऐसी कैसी लोग नहीं होती स्त्रियां आकाश मार्ग से गई और द्वारका में से होकर से ले आई निरुद्ध को पर्यम के सुतम अनुरुद्धम योग माया गृहित अपनी योग माया से सोया हुआ और आंख खुली का तो देखता है मिशोरपुर में सक्षम प्रियम दर्शन लेट देख ले ले उषा ने उस अनुरुद्ध को देखा और अनुरुद्ध के साथ अपने घर में रहने लगी दैनिक सेवा पूजा करती थी उषया अनुमान और जन समूहान न रोज बहुत समय बीत गया कुछ तथा सेवका स्थान जगवीर विद्यमान जो वहां द्वारका बैठे थे सेवा उन्होंने गांव से जाकर के एक दिन कहा महाराज आपकी कन्या का कुल कुल का कुल दूषण विफल है विरुद्ध देखा जाता है लक्ष्य ना हाँ, अच्छा लक्षण से जानते हैं उसको सुन करके बाणासुर को जान दुख हुआ वो एक उठ करके कन्या दर्शन कर गया तो साथ घर में सीधा चला गया वहां देखा कि वो बातों से वो अनंत के साथ खेल रही है उसके बाद हमारे यहां ये कैसे अनुरुद्ध लेकर के हाथ में शस्त्र और सुलभ खड़ा हुआ बाणासुर से बाणासुर ने जब उसको लाभ हाथों से बांध करके जेल में डाल दी अनुरुद्ध ने और ना द्वारका में देख रहे हैं अनुरुद्ध कहां गए अनुरुद्ध कहां गए अरे कहां गए कहां घर में सो रहे थे उनका पता ही नहीं था एक नारदा और दस बजे दस के बाद काम नारद जी वहां आते ही जाते रहते थे नारद जी से पूछा महाराज हम लोग को काफी कोई पता है पता है एक तो वहां से तो जेल में रहा बारह अक्षर क्या था बारह अक्षरों में सेना को लेकर के समन्ता बाण रंग जरूर बारह अक्षरों में सेना ले जाकर के बाण का लगा छोड़ दिया बस पहले तो भगवान शंकर जी की रक्षा करते थे तो भगवान शंकर आ गए लड़ने के लिए बैल कर बैठ करके यह है तो बन जाओ श्री कृष्ण से भगवान शंकर जी का युद्ध हुआ तब अब भगवान राम का शरण मासी और शिव जी के साथ जो युद्ध हुआ बलदाऊ श्री कृष्ण का और उसको देख करके से होते रात गुप्त कृष्ण शंकर प्रद्युम्न कार्तिक प्रद्युम्न का कार्तिक के साथ ऐसे बाणपुत्रेण सब ब्रह्मा के देवता सूर्य को देख रहे स्कंद प्रद्युम्न राणी पीड़ित सन रत्न विरुचन गणा अर्थात रसगुल्ले के बाद तो उन्हें दो करके स्कंद वहां से बाहर के चले गए बाण बाण सुनने तब पान से हाथ में धनुष लेकर के भगवान के सामने भगवान ने उसके सारे धनुष काट डाले शंख नार किया तो बाणासुर की माता का नाम का पोतरा वो अपने पुत्र की रक्षा के लिए वहां नग्न नंगी होकर के खड़ी होगी भगवान से कृष्ण के सामने भगवान ने युद्ध करना बंद कर दिया वहां से अपने नगर में जाकर के चला गया प्राण बचा करके इस तरह से इसके अहम तलेगम भगवता भूत बने विचार को सटीक सही हो वह कृष्णन का पुत्र भगवान शंकर का जो ज्वर है वो कृष्ण की तो आया भगवान श्री कृष्ण ने भी अपना जल भीतर जल भेज दिया दोनों घोड़ों का आवास में युद्ध कला वैष्णव जरूर उनका शैव जरूर उनका सन कृष्णन कृष्णा वैष्णव जल से पीड़ित होकर के भगवान शंकर के जल ने स्तुति की अब तो हम जो साधु सही हूं फिर भगवान ने कहा अच्छा और तुम्हारे तुम्हारे जल से तुमको कोई भय नहीं देगा हे कृषक तो ब्रह्म प्रसन्न रोशनी कल मथुरा भयम देतु जो नव संवाद स्मृति तस्त तत्व तो भयम न लगे जो हमारा ये संवाद श्रवण करे उसको भी जल का भय न हो बाहर से कोई दूसरा अर्थ लेकर के बैठ करके आया और भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने लगा हम्म, तो वाहन कृष्ण बारह में वाहन भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उसके हाथों को ऐसे काट दिया जैसे को फुलारा लेकर के वृक्ष की शाखाओं को काटता है उस तो समय तो भगवान शंकर ने कहा श्री कृष्ण के पास आकर से महाराज आप तो साक्षात्कार परमात्मा है मैंने इसको अभय रखा है इसको आप मारे वहां एक पूरा था उसमें जल नहीं था वहां एक गिरगिट बना था उसमें टिकड़ा उन बच्चों ने उसको निकालने का बहुत प्रयत्न किया तो निकला नहीं फिर भगवान श्री कृष्ण से जाकर कह दिया महाराज एक बहुत बड़ा टिकड़ा पड़ा है हमसे निकलता नहीं भगवान श्री कृष्ण आए और अपना हाथ बढ़ा करके तो उस गिरगिट को बाहर किया भगवान के हाथ का स्पर्श पाते ही हो तप्त सुवर्ण के समान उसका शरीर हो गया देवो बहुआ देवता हुआ भगवान बोले अरे तुम ये नियम तुम लोग क्या मिली थी भाई कौन हो तुम अपना पता बताओ भगवान ने जब पूछा तो वो कहने लगा मेरा नाम है नृत्य आपने सुना होगा एक शाकु वंश में एक शाकु का पुत्र मेरा नाम है नृत्य अनुभव में मैं भगवान मेरा नाम था गान से विख्याता क्या आप तो जानते हैं महाराज मैंने इतनी गंगों का दान किया कि कोई भी पृथ्वी के कणों को दे सकता है सर मैंने जितनी गंगों का दान किया उसे नहीं मिल सकता जिन तारा आकाश में तारा को दिन दो तो मैंने जो उनका दान किया है उन्हें भी नहीं जा सकता वर्ष धारा दशांत धारा बिंदु आपको मेरे मैंने बहुत भगवान प्रदान किया और बहुत ही कैसे थी ऐसी नहीं बुद्धि बुद्धि जो जो राम वैसुन तरुणी को दूर देने वाली और कपिल वर्णा सरसता योग श्रेणी सोने का तुम हुआ रूप के थोड़ा चांदी में पर मरे हुए शासन होने ऐसे नहीं न्याय से अधिक थी और कैसे ब्राह्मणों को भी स्वतंत्र शरण सड़न गए ब्राह्मणों को भी दस दस रुपये दे करके सजा लगा करके और जो तपस्वी थे गुणवान थे ऐसे ब्राह्मणों को गांधी स्वर्णाश्रम छोड़ बन तो कहते हैं दान करते हुए मेरे सामने विपत्ति आई गौ दान करते समय एक किसी ब्राह्मण की गौ मेरी गौ में आपको मिल गई थी मैंने अपनी समझ करके ब्राह्मण को दान कर अब वो ब्राह्मण को ले जा रहा था और जिस ब्राह्मण की गौ थी उसमें पकड़ने का गौ तो मेरे लिए तुम्हारा ले जा रहा कह रहा तो राजा ने दान की है राजा कैसे दान कर देगा मेरे शरीर में लाख बोल ले लेते नहीं दोनों आदमी ब्राह्मण अपने दिया तथा स्वामी ग्राम लक्षण में देना नहीं तेरी लाख बोलो तो मैं नहीं चाहिए हमको तो अपनी चाहिए हाँ। वो ब्राह्मण भी हम नहीं ले हम किसी ने इतने में राजा की मृत्यु का समय आ गया राजा चले गए एक स्त्री समय यमदूत से यमदूतम हम देता यमराज ने पूछा बोलो राजन पहले पाप का फल दो है या पूर्ण का तुम्हारे पूर्णियों के फल का कभी अंत है नहीं बहुत पूर्ण किया है तो कहते अच्छा पाप का फल दे दो हमें कदा तो उन्होंने कहा कि नहीं तो उन्होंने कहा तरत भिंदे हिंदे मयोते सती अरे पथ अरे जागृत तो महाराज हमने अपने क्लास में निर्देशन करे आपके कृपा से अब हम उसके जीवन से सुनते हैं भगवान ने सबको सुनते हुए सब बच्चे वहां सुन रहे अरे देखा ब्राह्मणों का जो धर्म है इससे बचना चाहिए नाम आलम मंगे विषम ये प्रतिक्रिया विष को ले तो उसकी प्रतिक्रिया है और ब्राह्मण का धन ऐसा विषय है जिसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है हिमस्त का कारण बंद रंगी प्रशांत विष तो केवल खाने वाले को लगता और ये समूलम का में कुलम समूलम का अर्थ अतो ये ब्रह्मत्व मशरूम ना दू अरे तुम मेरे बच्चों ब्राह्मण को अपराध करे तो उसे सह लेना नमस्कार करना महाराज मेरी नमस्कार आम लथा नाम यथा अंजन ना अरे तुम लोग देखते हो ना हम लोग ब्राह्मण को प्रणाम करते रहते हैं ऐसे नमस्कार करते रहो ये हमें समझ को बन रहा भगवान कहते हैं ब्राह्मणों को ऐसे नतमस्तक नहीं होगा हम उसे दंड देंगे अप्रतम ब्रह्मक्रम हड़ताल नगर था पाते बोलिए श्री कृष्ण भगवान ना स्मर पर तुम अरे आप लोग हमारा कभी स्मरण कर लेते हैं ना आप लोगों ने कंस मार दिया बड़ा और शत्रुओं को जीत करके तुम बड़े भारी किले में रहते हो ये तक तो दृष्टिया मंगलम गोपिया हंस करके बोली देखिए हे राम स्त्री जन बल्लभा कृष्णा को थी स्त्री मात्र को प्रिय लगने वाले श्याम सुंदर श्री कृष्ण शिक्षेत्र हैं कभी अपने माता पिता का नमन करते हैं कभी हमारी सेवा की याद करते हैं अस्नातन सेवा स्मरक और जिनके लिए भी श्याम सुंदर के लिए हम पति पुत्रों को छेड़ करते हैं जिनकी हो गई पार्टीशन सिद्धि सिद्धि सिद्धि सिद्धि तो तब कर्तव्य से बचा पुरस्क्रिया कथम होगी और उस कर्तव्य की बातों में क्या वहां की स्त्री आ जाती क्यों बोल गया क्या कथया मृत्यु बड़ा कथना वो कर्तव्य श्री की स्त्री को चलते ही चला दूसरी बात करना हमारे बिना जैसे उसका समय व्यतीत हो जाता है तो उसके बिना हमारा भी मन भी हो जाए यथा अस्माकर बिना कष्ट कार्य व्यापी हमारे बिना जैसे उसका समय व्यतीत हो रहा है यह तेल बिना अस्माकम वैसे उसके बिना हमारा भी समय व्यतीत है तेल चाहे दुखी जाते भगवान कृष्ण से चरित्र समझता यह विरुद्ध इस तरह से कहते कहते भगवान का स्मरण करके हो बंगाल में निशान किया जय और वैसा दो महीने तक बंगाल में हो दो महीने जल पीड़ा में हनुमान को बुलाया नहीं आएंगे हनुमान को मारा एक बात ये मान मां को ग्यारह ना यहां बात में आकर बन जाती है मेरे तेरी सैकड़ा खड़ा कर दूंगी धमकाया उन्होंने और ये नाम भाग्यों के लिए राम का विक्रम जानने द्वारा बड़ा हम जानते हैं साक्षात सूर्य भगवान हुआ आपने तो प्रति अपने ऊपर का व्यक्ति और और विभिन्न भगवान के नाम लोक मत ये ये नवरात्र को आप सुना तो आज आपको तो राम नाम जब पृथ्वी का गणित में देखता दर भरे हुए